शरीर छूट रहा है न काम ही हो पा रहा है तो हमने निर्णय लिया दोनों ने हम एक साथ बोलेंगे दोनों के दोनों ताकि एक दूसरे के कान में पड़ जाए और आश्चर्य आप लोग बताते हैं वो बात है देखा किसने भगवान ही जाने और कब मरे कब क्या हुआ लेकिन वहां की परंपरा में कथन लोग करते हैं उन लोगों ने एक दूसरे के सर पर हाथ रखा और एक साथ आंख बंद करके एक साथ बोल दी और शब्द समाप्त होकर उनके शरीर भी छूट गया ऐसे उत्तम अधिकारी भी हुए उनके लिए शब्द अधिगम के बाद कोई प्रयत्न जरूरत पड़ी तभी की वेदांत की यही व्यवस्था वास्तव में है जो यहाँ कार है सर्वोत्तम अधिकारी के लिए गुरुमुख से श्रवण करने मात्र से मन निध्यासन एक साथ हो जाता है अलग नहीं है और अद्वैत सिद्धि में पढ़ेंगे आप वहां भी स्पष्ट करेंगे श्रवण का भी मरण इतिहासन है ये साबित करेंगे श्रवण का अंग मनोरध्यासन है श्रवण निध्यासन का अंग नहीं मन निध्यासन का अंग नहीं निध्यासन को अंगे मानने वाले गलत है ये साबित किया सिद्धि में ये तो मंद और मध्यम अधिकारी के लगा पहले श्रवण करो फिर मनन होगा अर्थाचरण करने से क्या हुआ मनन का अंग श्रवण हो गया ना ये मनन करेगा तो निध्यासन होगा तो निध्यासन का अंग मनन हो जाएगा ठीक है मंद अधिकारी के लिए भी यही ठीक है मध्यमाधिकारी लिए भी यही सही है लेकिन उत्तमाधिकारी के लिए मनन निध्यासन इतना हो चुका है अब वो वास्तविक अंतिम श्रवण की अपेक्षा मात्र इससे पहले हमने जो श्रवण किया शब्द श्रवण किया स्वरूप के बारे में श्रवण नहीं किया अभी जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं ये उपनिषद शब्द राशि का श्रवण इसलिए ये तर तो श्रवण के अंदर मन और ध्यान की अपेक्षा है वास्तविक श्रवण ये नहीं है वहां पर शब्द अर्थ दोनों का संबंध सब कुछ अभेद रूप में ग्रहण हो जाता है यहाँ तो भेद भिन्न है ना तभी तो आप कहते हैं अरे ये शब्द तो सुना लेकिन इसका अर्थ मुझे मालूम नहीं हुआ क्यों नहीं मालूम हो रहा है क्योंकि अभी आपके लिए शब्द भिन्न है अर्थ भी भिन्न है जब तक शब्द भिन्न और अर्थ भिन्न तब तक मन अनंतर भावी है निध्यासन उसके भी अनंतर भावी होगा जब अभ्यास करते करते वो स्थिति आ गई कि शब्दार्थ अभिन्न होने लग जाए जो मांडव्य परिषद इसलिए कहा उत्तमारी का लिया है एकमेव मांडुक्यम एकमेव मुमुक्ष नाम विमुक्त है वास्तविक मुमुक्ष के लिए अकेला मांडव्य परिषद काफी है क्यों वहां पर क्या है आप देखेंगे अभिधान और अभिधेय का अभेद सिद्धि करते हैं जब अभिधान और अभिधेय अभिन्न हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मी अभिधान अभिधेय के साथ अभिन्न स्वरूपानुभूति तत्काल होना चाहिए उसके लिए यत्नांतर और कालांतर का प्रसंग ही नहीं है लेकिन ये मन मध्यम अधिकारी उनकी समस्या है और शब्दार्थ उनके लिए भिन्न है अभिन्न नहीं है उनके लिए कहा दस उपनिषद पढ़ो एक सौ आठ तैतीस उपनिषद पढ़ो एक सौ आठ उपनिषद पढ़ो एक हजार आठ उपनिषद पढ़ो ये सब मन मध्यम अधिकारियों के वर्णन है और यहाँ जो बात अब वास्तविक भाषिकार ने जो कहा है ये सर्वोत्तम अधिकारी की बात है जिसके लिए शब्द और अर्थ अभेद पूर्वक ग्रहण हो रहा है अतः जो ब्रह्म शब्द सुनते ही उसका स्वरूप छठ से अनुभव हो जाएगा बाहर फिर रुकावट नहीं है अब तो हम लोग अकल से समझ ही नहीं पा रहे जगत मिथ्या है बोल तो लेते हैं जबान से लेकिन अकल से स्वीकृति नहीं हुई अभी हृदय है जगत को मिथ्या स्वीकार ही नहीं कर पाए तो अमरमा शब्दार्थ का अभेद कहां से होएगा अभी शब्दार्थ भी नहीं है यावत पर्यंत जगत में आपकी सत्यत्व वृत्ति रहेगी तावत पर्यंत अहम ब्रह्मा शब्दार्थ भेद पूर्वक ही हमें बोध होगा अतः परोक्ष ज्ञानी हो सकता है हमें अपरोक्षानुभूति शब्द स्मरण के बाद नहीं होता है जिनको उनके लिए कहा गया मंडल निध्यासन आवश्यक है और जिन लोगों ने ऐसे मन निध्यासन करते हैं अनेक जन बीत चुका है इतनी अंतकरण शुद्ध हो चुका है शब्दार्थ अभिन्न हो जाएगा उन लोगों के लिए बात कहा जा रहा है जो ये मानते शब्द राशि गम्य पी यत्नांतर मंत्रेण शब्द राशि होने के पश्चात जैसे कर्म कांड में यत्नांतर के बिना स्वरूप फल की संभावना नहीं होती वह फल के साथ ही जोड़ना है अन्वय तो वही है शब्द ज्ञान होने पर भी जिस प्रकार कर्मकांड में यत्नांतर के बिना अक्षराधिगम जैसे आप बोल रहे हो स्वर्गाधिगम स्वर्ग प्राप्ति न संभवती तथा उसी प्रकार यहाँ पर भी शब्द राशि अधिगम यत्नांतरम मंत्रेण यत्नांतर के बिना केवल गुरु अभिगमनादि रक्षण और वैराग्य नीचे टिप्पण कर नो उपन्नम अभी निष्फल अकार्यम तो इतिहासंज्ञा तो पूर्व पक्ष ठीक है मान भी लूंगा इस बात को आपके कहना लेकिन फिर भी निष्फल है क्यों वेद भाई अथवा ऐसा पूर्व पक्ष कहे उसके जवाब फिर आगे देंगे कहते वेद शब्द है तो सर्वदेव जो कहा सिद्ध है पृथकरणम पराविद्य कथनम चिन्ह ऐसा नहीं कहना दोनों में बहुत अंतर है तो इसी को टीकाकार ने समझाया इति आवेदय तुम पृथकरणम इत्यर्थ देखो वैराग्य अधिरूपियत्नांतर मंत्रेण अक्षराधिगमस्तु न संभवती आवेदित पृथक करणम इत्यर्थ जो टीका में उन्होंने कुछ नहीं कहा टीकाकार ने तो इस विषय में कुछ भी नहीं लिख रहा आनंद गिरी का टिप्पण कर रहे है उसका स्पष्ट किया अगर्यत तदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम तदपानिपादम नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म तदव्यम यूतयोनिम परिपश्यन्ति धीरा कहते हैं यदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम यह जो अदृश्य अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है अग्राह्य ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं था ही नहीं इंद्रियों का भी वो विषय नहीं है अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुश्रोत्रम अगोत्र वो कैसा है अगोत्र अन्वय से युक्त नहीं है गोत्र वाला कौन होता है सामग्री वस्तु को गोत्र कहते कार्य कार्य की परंपरा जो चले कहीं ना कहीं जगह रुके भले लेकिन वो कार्यकारणों की परंपरा चलते रहे जाओ उसको कहते हैं गोत्र जैसे गोत्र आदि क्या है अब गोत्र क्या है भारतराज गोत्र कोई कहता अंग्रेज गोत्र का मतलब क्या उस ऋषि से लेकर उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा होते होते होते हम भी किसी का बेटा हो गए हैं किस परंपरा में तुम बेटे हुए हो तो वशिष्ठ की परंपरा में जो बेटा हो रखा है उसको वासिट गोत्र उत्पन्न कहते हैं इसे अन्वय कहा जाता है सान्वय और ये कैसा है निरमय वस्तु होने के नाते अगोत्रम कह दिया और अवर्णम वर्णिंदी वर्ण यह वर्ण से काला पीला रंग नहीं ब्राह्म क्षेत्र शुद्र वर्ण भी नहीं लेना वर्णियंदी वर्णा है द्रव्य धर्म गुणा द्रव्य के धर्म है द्रव्य के स्वभाव है द्रव्य के स्वरूप इत्यादि का कथन करेगा नाम ही वर्ण ऐसे इस ब्रह्म रूपी वस्तु का न कोई धर्म है न कोई गुण है न कोई स्वभाव है जिसका वर्णन कर सके आते उस ब्रह्म को अक्षर को अवर्ण करते हैं चक्षुष अचक्षुष श्रोत्रम तरह सामान्य रूपेण कहा हुआ कोई विशेष रूपेण पुनः उपलक्षण पूर्वक कथन करते हैं चक्षु श्रोत्र आदि से वो रहित है चलो वो विषय नहीं है तो विषय ही मान लो कहते विषय मानने के लिए कर्ण को चाहिए ना कर्तृत्व आने के लिए कर्ण की अपेक्षा है करण का विषय नहीं है खुद करण ही है करण करण का विषय नहीं होता ना क्योंकि करण अतिद्रिया होते इसलिए आपने अदृश्य अग्राह्यम के द्वारा ब्रह्म को अतिद्री कहा है इसमें वो चक्षु हो सकता श्रोत्र भी हो सकता है कि चक्षु श्रोत्रादि कैसे है ये अतीन्द्रिय ये भी अदृश्य अग्राही है क्योंकि अनुमेय है आपका आंख है आपको कैसे पता चला नंगे आप वस्तु को देख रहे हैं तो आंख को किसने देखा आज तक न आंख को किसने देखा न कान को किसने देखा है जो देख रहे हैं वो गोलक को देख रहे हैं मांस पुंड को देख रहे हैं जो असली चक्षु है असली श्रोत इंद्रिय है असली ग्रहण इंद्रिय है उसको किसने देखा ही नहीं यदि देख लिया होता तो वैज्ञानिक भी नहीं देखता हम और आप क्या देखेंगे वैज्ञानिक लोग भी नहीं देख पाए वो भी मांसपिंड का ऑपरेशन ऑपरेशन करते रहते हैं वैज्ञानिक भी क्या कर जैसे आपके जो है चश्मे की दुकान में जाते हो डॉक्टर के पास जाओगे क्या करेगा वो वो एक बहुत बड़ा चश्मा जैसे है लोहा बला रखा उसके अंदर डालते जाता है कभी एक कांच डाले कभी दूसरा कांच कभी तीसरा कांच बदलते रहेगा और कभी उसको करते जाओ तुम आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और अनुमान करेगा आप के अक्षर आप मान ले जान बुझ गलत पढ़ेंगे तब क्या होगा मैंने डॉक्टर से कहा ये बात मान लीजिए हम जान के नहीं पढ़ेंगे तब क्या करोगे तो और हमारा क्या दोष है बहुत मोटा क्लास दो का बोलता है वहां कांग्रेस का नंबर बहुत खराब है पढ़ोगे ही नहीं तो क्या करेगा वो और तब भी तुम नहीं पढ़ोगे कहूंगा ऑपरेशन कर दो ऑपरेशन करने नहीं पढ़ो कहूंगा ये अंधा हो गया भले तुम देख सकते हो चीज आनंद नहीं उन्हें क्या मालूम मेरा आनंद है या नहीं वो सब तो बारीक गोलों को लेकर बेचारे लगे हुए रहेंगे और आपके ऊपर निर्भर है आप पढ़ लिए तो कहेंगे भाई आंख तो बिल्कुल ठीक है आप नहीं पढ़ पाए कहेंगे इतना कमजोर है इसी तरह से हर इंद्र में समझिए जैसे सुनने वाले को मशीन देते ना मशीन मैं तो कितने पावर का दे रहा तय कैसे करेंगे उधर से खड़ा होकर के बोलना चालू करेगा बरामदे के किनारे से यहाँ तो आपके बगल में रहेगा वो पूछेगा सुना उन्होंने क्या कहा कहते नहीं जी तो थोड़ा और आएगा दस फुट इधर फिर बोलेगा सुना कहते नहीं जी और इधर आएगा ऐसे करते करते अब अंदाज करेगा हाँ, चालीस फुट की दूरी की आवाज सुनता है उसे आगे का नहीं सुनता है तो फिर उसके हिसाब से मशीन लिख देगा अमुक मशीन आपके लिए बगल में बोल रहे तभी नहीं सोचते तो बहरा हो गया कान में चिल्ला के देखते हो जोर से तब भी नहीं सुनते फिर क्या मशीन काम करेगा वहां तो, तो मशीन काम नहीं कर सकता भाई और कान में हम जोर से बोल रहे हैं तो यदि आप सुन पाते हो थोड़ा तो मशीन हम बहुत तेज मशीन दे देंगे तब तो काम चल जाएगा और कान में चिल्लाने पर नहीं सुनाई दे रहा है तो बहरा हो ही गया फिर क्या है मैंने वो भी अनमय है ना सब कुछ हमें ही व्यवहार चल रहा है इंद्रियों के बारे में इसलिए इंद्रिया क्या है इंद्रिय इंद्रियों को और स्वयं अदृश्यम अग्राह्य में अतव कोई सोच सकता है जो ब्रह्म है ना अदृश्य अग्राह्य अगोत्र अवर्ण होने के नाते चक्ष रूप है स्रोत रूप है तो नहीं नहीं वो इंद्रिय स्वरूप वाला भी नहीं कर्ण रूप भी नहीं कार्य रूप भी नहीं कर्ण रूप भी नहीं कारण रूप भी नहीं है इसे तदपाणिपादम तो न इंद्रिय स्वरूप है न इंद्रिय स्वरूप है कोई इंद्रिय रूप वाला नहीं कहते कारण तो होगा कहते नहीं नित्यम और नित्य क्यों नित्य है जब कारण रूप वाला होता है ना वो भी मेरी वाला होता है नित्यम कहे तो पर अव्ययम के साथ छोड़ देना नित्य है क्यों क्योंकि वो अव्यय है क्या कारण भी व्यय स्वभाव वाला ही होता है वह भी विनाशी है वह भी प्रलय को प्राप्त होगा कारण का भी लय होता है प्रकृति में कुछ लोगों के मत है किसी माया हो किसके मत में किसमें कहीं किसमें कहीं कहीं ना कहीं जाकर कारण का स्वरूप भी लय हो जाता है और उसको कहते मूल कारण और उसको कहीं ना कहीं नित्य मानना पड़ा नहीं तो समस्या जो कहा जा रहा है जगत ये वेदांत हिम्मत करके बोलता है ये मूल प्रकृति भी नहीं है माया भी नहीं है कुछ भी नहीं प्रकाश है अरे तुमको दिख रहे इसलिए आया है बस कुछ नहीं जिसको दिखाई दे रहा है उसके लिए माया भी है और माया से आई हुई है जिसको नहीं दिखाई देता तो क्या न माया है न जगत है बात खत्म जो हिम्मत की बात जो है वेदांत ही करता है बोलने को एकमात्र मई हूँ सत्य मेरा अपना स्वरूप ही सत्य हो न कारण है न कार्य न कुछ है वो और मेरे अपने निज स्वरूप से दिन कुछ भी सत्य न होने का है न कार्य न कारण है तो कारणों का भी कारण मूल कारण कहां से ढूंढू इसलिए ढूंढने की कोई जरूरत नहीं इसी ध्यान में रख दे विभुम सर्वगतम जो कारण होगा वे परीक्षण जरूर होगा यह सर्वगत होने के नाते ये विभु है लेकिन जिनको संसार दिखाई दे रहा है उनके लिए क्या है भूत योनिम यूत योनिम सूक्ष्म समस्त भूतों का कारण रूप होता हुआ अत्यंत सूक्ष्म व्यापक हिरण्य गर्भ स्वरूप भी यही ब्रह्म है ऐसे कौन देखता है धीरा परिपश्यंदी ऐसे धीर लोग विवेकी पुरुष सभी और इसको अनुभव करते हैं यथा विधि विषय कर्तरादि अनेक कारक उपसंहार द्वारा वाख्यात ज्ञान कालाद अन्य अनुष्ठेय अर्थोक्ति अग्निहोत्र लक्षण न तथा यह पर विद्या विषय स्पष्ट कहते हैं यह विधि विषय यथा जिस प्रकार से विधि के विषय में विधेय विषय कर्मणी विधि का विषय क्या कर्म वह क्या आप देख रहे हो कर्तादि अनेक कारक उपसंहार द्वारे कर्त आदि अनेक कारकों को उपसंग्रह करने के द्वारा वाक्यर्थ ज्ञान काल से भिन्न काल में अनुष्ठेय पदार्थ होता है वाक्यर्थ ज्ञान काला अन्यत्र अनुष्ठेय तो अस्थि क्या है वह अनुष्ठेय पदार्थ अग्निहोत्राणी अग्निहोत्र आदि कर्म ऐसे हैं जब आप वेदों को पढ़े उस समय नहीं होता वो पढ़ते वक्त नहीं हो जाएगा अपने आप में पढ़ने के बाद शादी करना पड़ेगा शादी होने के बाद बेटा होना पड़ेगा बेटा जब होएगा तब सब बाल काले होने पड़ेंगे तब ना अग्निहोत्र करोगे इसलिए गुरुकुल में जब वेद पढ़ते रहोगे शब्द ज्ञान हो रहा है उस समय कर्म का मामला है ही इसलिए कहते हैं वाक्यार्थ ज्ञान काल से भिन्न काल में ही जाकर के अन्य तुमने तो भिन्न काल में ही अनुष्ठेय पदार्थ जो कि के रूप का है वो किए जाते हैं न तथा यह पर विद्या विषय इसलिए यहाँ इस पर विद्या का विषय तो ब्रह्म तत्व के मामले में ऐसा नहीं है क्यों व्याख्या ज्ञान समकाल तो फरी वसी तो होती वाक्यार्थ ज्ञान के सब कार्य में ही फल भी संपन्न हो जाता है कार्य संपन्न भी हो गया ज्ञान का जो कार्य की अनुभूति कराना वो भी संपन्न हुआ ज्ञान का फल क्या मोक्ष वो भी संपन्न शब्दार्थ शब्द किस लिए था अर्थावगति के लिए अर्थावधि किस लिए कि उस अवगत अर्थ का अनुभूति के लिए अवगत अर्थानुभूति किसके लिए किसने किसी फल प्राप्ति करने के लिए था वो सारा का सारा काम एक काला कालावच्छेदन हो जाता है इसको कहते देखो वाक्यार्थ ज्ञान समकाल एवं तो परिवर्षित होती केवल शब्द प्रकाशता ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव क्योंकि वह ब्रह्म वह शब्द मात्र बुद्ध वस्तु से भिन्न कुछ भी नहीं है वह शब्द बुद्ध है वही ब्रह्म है उससे भिन्न कोई दूसरा वस्तु होता तब तो उसके लिए कालांतर की अपेक्षा अनुष्ठे जो है जो कर्मांतर की अपेक्षा स्वरूपांतर की अपेक्षा होती है केवल शब्द प्रकाशता ज्ञान मात्र निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव केवल शब्द से प्रकाशित जो अर्थ है तादृश ज्ञान मात्र निष्ठा से भिन्न कुछ भी नहीं है निष्ठा व्यतिरिक्त अभाव यदि मन ब्रह्मात्मक की ज्ञान निष्ठा संपादनीय नानकत्व भाव तो टिप्पण कार्य कहते हैं निष्ठा व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है इसका तात्पर्य क्या है मरण इतिहासन से के द्वारा ब्रह्मात्म ज्ञान निष्ठा ही संपादन करनी चाहिए अन्य कुछ भी कर्तव्य नहीं रह जाता है ये इसका तात्पर्य भाव तस्माद यह परा विद्या सविशेषण अक्षर विषय इसलिए ही यहाँ परा विद्या को सविशेषण अक्षर विशेष के साथ और अक्षर के द्वारा उसको विशेषित विशेषण अक्षरेण विशिनष्टि विशेषणों के द्वारा उस अक्षर तत्व को विशेषित करते हुए कथन कर रहे हैं यदृश्यम इत्यादि ना वक्षमाणम बुद्ध संहृत्य सिद्ध परामृश्यंत वक्षमाणम क्यों कहते हैं यहाँ तो कहे नहीं अक्षरम गर्गे है ही नहीं यहाँ कहीं अक्षरम शब्द है नहीं पहले आया था यह तद अक्षरम अधिगम्य थे वक्षमाण था अभी वह अक्षर अच्छा तो कैसे ग्रहण होगा यह तो से ग्रहण हो रहा है अदृश्यम अदृश्यम सर्वेशा बुद्धि इंद्रियाम अगम्यम सभी लोगों के ज्ञानेन्द्रियों का यह विषय नहीं होता दृश्य बहिष् प्रवृत्त पंचेन्द्र द्वारकत्वा दृश्य धातु का सामान्य अर्थ क्या है बाहर में प्रवृत्त पंच ज्ञान इंद्रिया रूप दर्शन में ही दर्शन नहीं इक्कीस सूत्र से ज्ञापन हुआ दृश्य अनवलोकने एक सूत्र है ना दृश्य अनवलोकने सूत्र बनाया गया क्यों बनाए यदि दृश्य धातु का अर्थ अवलोकन में रूढ़ है अनवलोकन दृश्य धातु का मिलेगा इसे ज्ञापन होता है अवलोकन से भिन्न अर्थ में भी दृश्य धातु का प्रयोग हुआ अर्थात श्रवण अर्थ में भी ध्यान अर्थ में इन सकल अर्थों में भी दृष्ट धातु पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा किए जाने वाले पांचों ज्ञान प्रकार के ज्ञानों के प्राप्ति के क्रिया का नाम दृश्य धातु से हो गया सामान्य है इसलिए कहते हैं दृश्य बहिष्प्रवृत्त पंचेन्द्र द्वार बाहर की ओर प्रवृत्त पंच इंद्रियों का द्वार है वो रूप है माननी चाहिए अग्राह्य इसी प्रकार से यहाँ पर भी हाथ के तरह हम ग्रहण करते पैर के द्वारा गांव को ग्रहण किया जाएगा क्या पैर से गांव को पकड़ते हो क्या नहीं किसी को पकड़ना तो हाथ का ही काम है ना अब आप जो आपकी जो है पायु है वो क्या करेगा सच को पकड़ेगा कि छोड़ेगा वो मूत्र इंद्री क्या करेगा वो मूत्र को छोड़ता है कि पकड़ता है सबको सबको ग्राह्यम कह दिया कद इसी प्रकार से यहाँ पर भी ग्रह उपादान जो धातु है ना उपलक्षण पर के अग्राह्यम कर्मेन्द्रिय अविषय तक कर्मेन्द्रियों का अविषय ब्रह्म ये कर्ण का तात्पर्य है अगोत्रम गोत्रम अन्वय मूलम इति अनर्थांतरम गोत्र मने अन्वय जिसका कोई मूल हुआ करता है ये सब अर्थांतर पर्यायवाची शब्द है इसलिए अगोत्रम करके हम क्या लेंगे अनन्वयम इत्यर्थ अनन्वय को कहेंगे अनवय रही थे वो मैंने कार्य कारण भाव की परंपरा से रही थे जैसे पिता पिता पुत्र परंपरा से रहित वस्तु होता है वैसे ही पिता जो यहाँ पर कार्य कारण भाव की परंपरा से रहित होने से इसका नाम अगोत्रम नहीं तस्य मूलम अस्थि ये न अनुविधम क्योंकि उसका कोई मूल नहीं जिसमें वो अन्वित होगा ये तो चांदी उपनिषद में समझाने के लिए कहा रहे उसका मूल को खोजो है ही नहीं सन्मूलम अनविच्छे ऐसे वहां कहा जाओ एक फल लाओ बोला बट फिर उसका एक फल ले आया तो फल है ये कहा से आया इसका मूल कौन है वो वृक्ष इसका मूल था अच्छा उसको फोड़ो फोड़ दिया दाने मिले उसको दाने फल का कार्य था फल के अंदर था ना ये इसका मूल फल है फल के अंदर दाने कार्य है उसका तो इसका मूल वो फल हो गया इसको भी चूर्ण करो ढूंढो जाओ मूल तक जाओ ढूंढ तो कहा लग जाएगा चूर्ण खत्म हो गया अनेक इस प्रकार से दृष्टान सर्वत्र इसी तरह से कहते दिया जाओ पानी ले नहीं समझ में आती है सब ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है जाओ पानी ले आओ पानी ले आओ नमक डालो इसमें एक किलो डाल दिया बोल दो रख दो उधर जाओ सो जाओ खाओ पियो सो खाया पियो सोया सवेरे हुआ आओ इधर आओ फिर जाओ वही बर्तन ले आओ जिसमें पानी रखा गया ना कल गोल गाल करके उसी को ले आओ चले आया ऊपर से थोड़ा सा पियो इधर किनारे से पियो उधर किनारे से पियो बीच में से लो नीचे से लो कैसा है यहाँ भी नमकीन वहां भी नमकीन वहां भी नमकीन वहा अरे हर जगह नमकीन ही लग रहा है कहते जिस प्रकार से नमक सब में भुला हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पर भी सर्वत्र सर्व दिशा में ये ब्रह्म भुला हुआ है ऐसे अनेक प्रकार से वहाँ दृष्टान देकर ये जो कहा जाए नित्य निर्गुण सर्वतम इत्यादि को समझा गया इसी को कहते यहाँ नहीं तस्य तो बोलम अस्ती ये नम श्या वर्ण्यंती वर्णा त्रिधर्मा स्थूलत्वाद शुक्लत्वाद होगा वर्ण्यंती वर्णा क्या है वो देवी के धर्म जो वगैरह है शुक्लत्व आदि है स्वभाव है स्वरूप इत्यादि सबको ले लेना अविद्यमान अवर्णा ये सिकल अवर्ण मक्षम अविद्यमान विद्यमान नहीं है वर्ण जिसका जिन जिस वस्तु का कुछ कहते हैं अवर्ण अर्थात न वो मोटा है न पतला है न दुबला है न कुछ है वो न काला पीला नीला है न मीठा कड़वा है ऐसा जितना भी है धर्म भेद सबसे रहित है वो अविद्यमान वर्ण वर्णम अक्षरम अचक्षुश्रोत्रम चक्षुश्च नाम रूप विषय करणे सर्वजंतो नाम यह सगल जंतुओं का कर्ण की मुख्य रूप से प्रवृत्ति क्या है नाम और रूप का आधार पर ही चलता है नाम सुना कान से रूप को देखा आंख से तब सारा व्यवहार करने लग जाता है इनके बिना व्यवहार जो अधूरा हो जाता है बहरा के लिए तो कितना परेशानी हो जाती है इसलिए व्यवहार करने में केवल देख देख के उसको अर्थ समझना पड़ता है देखते जो काम का भी काम जो आंख से करना पड़ जाता है आप लिखेंगे तब वो समझेगा ना हम को हम कहते हैं सुनते तो समझ नहीं सकता यही अंधे का हाल भी वो सुनकर सबको समझ रहा है वो देख कुछ नहीं सकता इसलिए बड़ी समस्या उसके सामने खुद पढ़ के समझ ले तो नहीं पढ़ सकता खुद देख के पहचान कोई चीज को लाओ तो नहीं अंधे डॉक्टर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कहीं भी एक भी दवा गलत क्रम में रख दो वो तो यूं करेगा वही दवा निकाल के दे देगा बेचारा वो क्रम में देखा ना वो हम उसको तो वही याद रहेगा जो रखा हुआ है थोड़ा विक्रम हो जाए तो गलत दवा दे देगा कितनी परेशानी है तो इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी सर्व सामान्य चिंतन की तरह तब वो नाम रूप विषय ये करने चक्षुष श्रोत्र भवती सर्वजन सुना तेरा विद्यमान यस्य वो भी विद्यमान नहीं है जिसका उसको कदता अचक्ष श्रोत्र मैंने कर्ण रूप भी नहीं है वो अतएव किसी प्रकार नाम रूपा त्योहार भी उसमें नहीं हो सकता चक्षुष्ट श्रोत्र नाम रूप विषय करण सर्वजन दोला चक्षु और श्रोत या नाम रूपा विषयों में सकल जंतुओं का सकल जीवों के प्रति कर्ण रूप प्रयोग होते हैं तो उसी प्रकार से उस आत्मा के पास भी होगा जिसके उसे सर्वज्ञ हो जाता है सबको जानता है ना वो सामान्य रूपेण विशेष रूपेण इसलिए सर्वज्ञ सर्वित कहते हो इसका मतलब निश्चित रूप से उसके बाद पास भी हाथ पैर कान बान आंको सब होगा तब कहते नहीं नहीं अतक्ष श्रोत ये अविद्यमान लेकिन ये है ये नहीं है जिसके पास उसे कहते हैं अतक्ष श्रोता वो आत्मा ब्रह्म है अच्युत श्रोत ये दो इंद्रिया उपलक्षण है सकल कर ज्ञान इंद्र सकल कर्म इंद्रिया नहीं है यदि भी ज्ञान इंद्र मात्र को उपलक्षण करूंगा क्योंकि अगले में और आ गया तब तो पानी पारम कर्म इंद्रियों की अलग कहा है यह सर्वज्ञ सर्वे इत्यादि ना चेतनावत्व विशेषता विशेषणता क्योंकि यह सर्वज्ञ सर्व इत्यादि के द्वारा चेतनावत्व या आपने विशेषित करके बता दिया उस ब्रह्म को वो ब्रह्म भी जैसे जीव है चेतन वाला है वैसे वो ब्रह्म भी चेतन वाला है जैसे जीव अल्पज्ञ है तो वो सर्वज्ञ है ये अल्पवित्त है वो सर्ववित्त है निश्चित इसलिए जैसे इसके पास इंद्रिया होंगी उसके पास भी होगा इतनी विलक्षणता होगी इसके पास साधारण इंद्रिया उसके पास दिव्य होगा इसलिए वो सर्वज्ञ हो जाता है और ये परीक्षण बिल्कुल क्षुद्र इंद्रिया है अति भी अल्पज्ञ रह गया ऐसा अंतर कर लो प्राप्त संसाराम चिकित्सोत्राधिकरण साधकत्व इसलिए पूर्व पक्ष कहता है यहाँ यह शंका प्राप्त है क्या कि संसारियों के समान निश्चित रूप से चक्षु श्रोत्रादि रूपी करणों के द्वारा ही अर्थों का ज्ञान कर लेता है उसी बात को निराकरण तद यह चक्षु श्रोत्रमिति वार्यते उसी का खंडन करने के लिए यहाँ मंत्र में कहा अचक्षु श्रोत्र पश्यत्य चक्षु सृषणोत्य कर्ण इत्यादि दर्शना श्वेता सूत्र परिषद का मंत्र है किंच पानी पादम कर्मेन्द्र रहित इसी प्रकार से तद अपानी पद ब्रह्म अपानी पाद है हाथ पैरादि से विरहित है यह कर्मेंद्र रहित तो सिद्ध करता है यद एवं अग्राह्यम अग्राहक जिसलिए ऐसा है इसलिए वह तो न ग्राह्य है न वो ग्राहक दोनों ही नहीं रह गया आवरण इत्यादि कह करके ग्राह्यता का निषेध कर दिया अच्छा श्रोत्र और पालन के ग्राहकता का भी निषेध कर दिया न ग्राही है न वो ग्राहक पहले कहा गया ना अदृश्य मग्राह्य मगोत्र अवर्णम अच्छा। यहाँ तक ग्राह्यता का किया सामान्य विशेष रूप निषेध हुआ और ग्राहक का भी निषेध कर दिया अतो नित्यम जिसलिए ऐसा है इसे वो ब्रह्म नित्य है अर्थात अविनाशी है जो ग्राही होता है और ग्राहक होता है तो उसको नित्य आकाश है ऐसा नहीं है लोग मानते हैं अविनाशी भी है नित्य है अविनाशी भी है उसके प्रति उनका भी यही है सर्वगतवाद ये हेतु देते हैं अग्राह्यवाद अग्राहकवाद ग्राही ग्राहक भाव से हित जो भी होगा वो सबको वो नित्य कोटि में गिनते हैं अतः उनके जैसा आकाश है वैसे हमारे यहाँ भी ये ब्रह्म है ऐसा आप कह सकते हैं हमारे बनाएंगे तो आकाश हो तो सामने दृष्टांत बना सकते हैं परपक्ष दृष्टिया दृष्टान्त हो सकता है विभुम विविधम ब्रह्मा प्राण भवती विभुम वह विभूम है क्यों विविध रूपेण भवती विभुम विविध रूप से जो होने वाला है उसका नाम विविध रूपेण का मतलब ब्रह्मादि स्थावर से लेकर से ब्रह्मादि से आरंभ करके स्थावर पर्यंत जो भी प्राणी भेद है चराचर सब कुछ के द्वारा वह हो रहा है वास्तव होता नहीं है इसलिए यहाँ पर देखो भेद ही भेदम भी नहीं बोल रहे हैं उन उपाधियों के द्वारा उपहित हो जा रहा है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं विभू कहते हैं यद्यपि वैसे ही हो ही जाता फिर भी वो कैसे रह जाएगा तो परिचिन हो गया इन उपाधियों के द्वारा उपहित होने मात्र से वस्तु स्वयं परिचिन नहीं होता स्वरूप स्वरूपता वस्तु का परिच्छेद नहीं है केवल उपाधि के द्वारा परिच्छेद वस्तुता परिच्छेद है स्वरूप परिच्छेद परिच्छेद है तीन प्रकार का परिच्छेद माना गया देशतः कालतः वस्तुता स्वरूप परिच्छेद नहीं है इसे उन्होंने जान करके प्राणी भेद भगवती तृतीय वाला प्राणी भेदम भगवती ऐसा नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वह ब्रह्म खुद प्राणी भेद को प्राणी भेद नहीं हो जाता कि प्राणी भेद रूपी कल्पना के द्वारा प्राणी भेद के समान अनुभव हो जाता है सर्वगतम व्यापकम आकाश और सुसूक्ष्म शब्द स्थूलत्व कारण रही सर्वगतम वो व्यापक है यह भी आप आकाशवती दृष्टान ले सकते हैं लेकिन फर्क क्या है सुसूक्ष्म आकाश के समान निश्चित रूप से सुसूक्ष्म होने से सर्वत्र व्यापक है किंतु साथ साथ ये भी ध्यान रखे शब्द स्थूल का कारण वो बन रहा है आकाश लेकिन उस तार कारण रहित होने के नाते उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है शब्द आदि स्थूल कारण रहित सुसूक्ष्म आकाश को सूक्ष्म कहूंगा और आत्मा को सुसूक्ष्म कहूंगा ये अंतर करना शब्दादि हो आकाश वायुवादी नाम उत्तरोत्तर स्थूलत्व कारणानी तद अभाव सूक्ष्म स्पष्ट कर दिया कि जो शब्दादि है आकाश वायुवादियों को उत्तरोत्तर में जाकर के स्थूलत्व को प्रदान करने का साधन हो जाते हैं अतएव उनके अभाव होने कारण से यहाँ पर इस ब्रह्म को हम सुसूक्ष्म कहेंगे सुसूक्ष्म भाष्यकार के अपने शब्द नहीं है तो मंत्र का है सर्वगतम सुसूक्ष्म तद अव्ययम उक्त धर्मत्वादेव न व्यतीत अव्ययम इन उक्त धर्मों के कारण से कौन नित्य विभुम सर्वतम सुसूक्ष्म ये चार धर्मों का वर्णन किया है वही साबित कर देता है यह ब्रह्म अव्य है वे को प्राप्त होने वाला नहीं होता उक्त धर्मत्वादेव उक्त धर्मों वाला होने के कारण से ही न व्यतीत अव्ययम नहीं आनंद स्वांग आप लक्षण व्यय नहीं अनंग से स्वांगापचय लक्षण अंग रहित वस्तु जो उसके स्वांग में स्वरूप का अपचय कभी नहीं हो सकता क्योंकि सावय वस्तुओं का ही उपचय अपचय हुआ करता है निरवय वस्तुओं का कभी उपचय अपचय स्वरूप नहीं हो सकता इसे अनंग से मैंने निरवय अनंग से अनवय टिप्पण का स्पष्ट कर रहे हैं स्वांग में स्वावय निरय वस्तु के कोई अवयव है नहीं तो उसकी अपना कोई अवयव हो तो उसके अपचय होता इसलिए स्वावय अपचय रूपा जो अन्यत्र वस्तु में देखते हैं उस प्रकार का व्यय न संभवती नहीं हो सकता दृष्टान क्या है शरीर से इव जैसे आप इस शरीर का देखते हो उपजय अपचय हो रहा है खाए पिए दंड बैठे की मोटा तगड़ा हो जाता है और नहीं तो फिर जो है दुबला पतला रह जाएगा लेकिन हम लोग दिमाग का काम ज्यादा कर रहे हैं ना दिन भर बैठे रहते पढ़ते लिखते रहते कुछ नहीं चाहिए सब दिमाग ही काम चलता है शरीर का कोई काम ही नहीं मेहनत नहीं शारीरिक इसलिए कमजोर लगते हैं नहीं लगते ही है क्योंकि सच्चाई में तो ना कोई कमजोर है कोई ना कोई बलवान है हम मिथ्या को संसार में कौन बलवान है कौन कमजोर है यदि हमारी सत्ता के आधार पर बोला जाता है कि शारीरिक शक्ति मानसिक शक्ति और भावनात्मक शक्ति ये शक्ति त्रय का संगम जो है होता है उसकी जो संयम करने के लिए ही नाम कर्मयोग का है भक्ति योग का ज्ञान सभी शास्त्रों में आप ये तीनों मिले हुए कर्म का कर्मयोग का वर्णन करने वाला कर्म का भाग होगा उपासना का भाग भक्ति का भाग एक होगा और ज्ञान का वेदों को वैसे तीन भागों में बांटा लोगों ने कर्म कांड ज्ञान कांड और उपासना का इसी प्रकार स्मृतियों में भी आप देखेंगे कर्म छठ गीता में भी आप देख लीजिए और भक्ति छठ के उपासना छठ गए और अंत में ज्ञान छठ गए सर्व व्यवहार में कोई भी ग्रंथ आप उठा के देखेंगे सभी जगह चीजें मिलेंगी चाहे कोई पुराण लो कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ है वेद सम्मत ग्रंथ है वेदानुकूल वेदानुरूप जो ग्रंथ होंगे उनमें त्रिकुटी का समन्वय किए बिना मुक्ति का वर्णन कर ही नहीं सकता आदमी ये तीनों का समन्वय की अपेक्षा है इसीलिए गुरुकुलों में पहले कर्मयोग होता था साथ रटे जा रहे हैं कर्मयोग करे जा रहे हैं फिर संध्या वंदन आदि उपासना भी तो करता ही था तो कर्म उपासना ज्ञान को समन्वय करके ले जाते थे और जैसे जैसे ज्ञान में अधिक आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसको कर्म में न्यूनता करते जाते हैं उसी प्रकार से उपासनाएं भी कम होते जाते हैं धीरे धीरे कर्म तो छूट ही जाएगा और अंत में उपासना भी छोट कर वह ज्ञान की अवस्था में स्थिर हो जाता है ये प्रक्रिया सभी शास्त्रों में उसको ध्यान में रखकर कह रहे है सारी बातें शरीर सीव जैसे शरीर के साधन का दिया उपचय अपचय हुआ करता है वैसे वहां पर उपचय अपचय का प्रश्न ही नहीं उठता ना भी कोशापचय लक्षण हो गया संभवती कोश का अपचय रूपा भी नहीं समझना कोश वाले आपका जेब मटाल रुपया नहीं नहीं पंचकोष भी नहीं लेना यहाँ कोष से दृष्टांत ले रहे वही पैसे वाली देखो ना छोला तो वैसे वैसे तो वैसे है ना झोला बढ़ता घटता है क्या झोला बड़ा छोटा तो होता नहीं झोला तो वैसे ही रहता है ना अंदर का पैसा बढ़ता ही घटता है ऐसा भी कोई कह सकता है भ्रम ले बड़ा छोटा नहीं होता लेकिन भ्रम के अंदर क्या घटते बढ़ते होंगे जैसे आपने रोटी पाया तो जहां गए डोल डाल किचन जाता है तो ऐसा ही है उसी प्रकार से कोष के अपचय जैसा धन राशि का अपचय हो जाता है वैसे भी बाह्य रूपेण वैसे का वैसे छोला दिख रहे और उसके अंदर खाली पता ही नहीं होता उसी प्रकार ब्रह्म में होता होगा बाहर से वैसे का वैसे है लेकिन अंदर घटता बढ़ता होगा कहते ऐसा भी नहीं समझना कोशापचय लक्षणों विव्ययोपी न संभवती राज्य जैसे राजा का कोष घटता बढ़ता है कि नहीं बढ़ इसलिए राज्य में हो गया पंचकोशील हो लोग राज्य ही वह कह रहा है जैसे राजा के कोषागार का जो कोष घटता बढ़ता है वैसे यहाँ पर बिहार है ऐसा ना समझे ब्रह्म ऐसा नहीं हो सकता ना भी गुण द्वारा को तो असंभव संभव गुणों के चौपचे के द्वारा जैसे भी होता है वैसा भी असंभव नहीं है जैसे देखो एक कंबल आपको दान में मिल गया शुरू में कितना गर्म रहता है नहीं? और चार साल उसने घिस देने के बाद उसके बाद दूसरा का प्रयोग किया उठन तो दूरी नहीं कर पाता है या नहीं क्यों उसके जो गुणों में जो अवय बने हुए थे उसके जो अंदर जो गुण था शीत जो निवारक वो गुण में अपचय हो गया तो इसी प्रकार से रूप रसगन सभी में देख सकते हैं आप हर चीज का जो अपचय हो जाता है तो धीरे धीरे वस्तु भी क्षीण हो जाता है उस प्रकार का अभी द्वारक व्यय को भी आप यहाँ नहीं समझ सकते जो अगुणता सर्वात्मकत्वाच क्योंकि अगुण वाला है और दूसरा है तो सर्वात्मक भी सब कुछ वही है ना गुण भी वही है गुण भी वही है सब वही बना हुआ है कभी ने भजन बहुत बढ़िया गाया है ना माली का तो माली वो सोचता है कि ये सब जो हम फूल लगा रखे हैं बड़ा देखभाल करना पड़ता है झंझट है तो सोचने लगा कहा तो कैसे करूं तो निर्णय लिया ये चुपचाप बैठ जाता देखते रहो मैं थोड़ा ऊंचा पे बैठ के मचान नहीं बनाते खेती में वैसे बगीचे से मचान जैसे बना के सब बैठ कोई भी आवे और ले जावे फूल भी तोड़ता है करके वो देखते रहता था कुछ बोलता रहता उसको धीरे धीरे मन में ऐसे आ गया अरे मही माली हूँ मही फूल हूँ मही पौधा हूँ मही बगीचा हूँ ले जा रहे छोकरे छाकरिया ऐसी भी सब मही हूँ दूसरा ही नहीं तो उसको उसने बहुत सुंदर पदों में गाया है मालिका कबीर ने तो उसी प्रकार जब सब कुछ वही है तो घटेगा बढ़ेगा क्या इस स्व से भिन्न को फूल तोड़ के ले जाए तब ना घट गया यह स्व से भिन्न को ले जा रहे बिना पूछे तो चोरी हो गए और जो स्व से भिन्न है ही नहीं तो कौन चोरी कर रहा है स्वयं उस रूप में आया और लेके चला आ गया तो ठीक ही तो हुआ कोई दूसरा थोड़ी ले जा रहा है जब विवेक में ज्ञान जग जाता है तो न चोरी का मामला रहेगा कुछ नहीं रहेगा इसलिए कहा गया ना कि जो उभय और अंतरंग ज्ञातवा कसम है अत्यंत लीनो देहो देही चात्यंत निर्मल उभय और अंतरंग ज्ञातवा कस शोचम है ये जितने भी विधि नियम है अहिंसा परमो धर्म या वगैरह जो गिनाया गया है या नियम वगैरह ये सारी चीजें केवल उस ज्ञान अवस्था से पूर्व काल पर ही लागू होता है उस ज्ञान अवस्था में क्या हो जाओगे सर्वात्मक हो जाओगे तो न उपचय है न अपचय हो सकता कि जो सर्वात्मक होता है उसे घटने बढ़ने स्व जब भेद है भेद में आप कहोगे एक बढ़ गया घट गया यह एक नया हुआ एक पुराना हुआ ये सब कारोबार होगा भेद में होगा अभेद में नहीं इसे कहते सर्वात्मक होने के कारण से भी यहाँ वे की कोई संभावना नहीं है अतः उसको अवेह कहते हैं यद एवं लक्षणम भूत योनि जो इस प्रकार का है वो भूतों का योनि है भूतानाम कारणम पृथ्वी वो भूतानाम कारणम पृथ्वी के समान वह समझो स्थावर नाम जंगमाना जैसे पृथ्वी इन स्थावर जंगमों का आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है बीज बोल उसका पेड़ बन गया नहीं फल हो रहा है स्थावर जंगम की उत्पत्तियों के प्रति जैसे आप पृथ्वी को देख रहे हो उसी प्रकार से वह ब्रह्मवीन स्थावर जंगों के प्रति कारण है क्षीणमान परिष्पन्ति सर्वदा आत्मोतम सर्वस्व अक्षर पश्यंती जो ऐसा अनुभव करता है परिपश्यंती का कर रहे जो इस प्रकार से सर्वदा आत्मभाव से सबको देखता है वह व्यक्ति अक्षरम पश्यंती कौन है वो धीरा धीमंता विवेकिना जो विवेकी होता है जो धीर होता है वे ही लोग इस प्रकार से सर्वत्र सभी को आत्म रूप नहीं देख सकते सर्वतः आत्मभूतम ने सर्वस्व सभी के अंदर सबको सदा ही आत्मा से देखने वाला जो होता है उसी को हम परिपश्यं इसलिए परिपसर्ग है ना परिपसर्ग की महिमा से बोल रहे हैं धीरा धीमंद विवेकिना विद्या अधिगम में सा परा विद्या संपूर्ण पूर्वोत्तर मंत्रों के तात्पर्य हुआ इस प्रकार का अक्षर तत्व को जिस विद्या से हम जान रहे हैं उस विद्या का ही नाम शराब किया है अब अगले मंत्र के लिए भूमिका देते हैं दृष्टान्तों के द्वारा क्योंकि आप बोलते बोलते एक बात कर दिया पहले तो कह दिया ना कारण है न कार्य है न कुछ भी नहीं हुआ देह है सर्वात्मक है, है? हाँ, अंत में निकल कर रही है बीज बो दिया भूतों का कारण भी बता दिए अब ये कैसा होगा एक तरह से नित्य विभू सर्वस्व सूक्ष्म है कारण नहीं कारण नहीं कुछ भी नहीं और फिर कहते भूतों का कारण है तो वृद्ध बात आप कह रहे हो तो कैसे घटेगा कुछ दृष्टान से समझाओ तभी तो मानी जाएगी तब कहते अच्छा हो दृष्टान देंगे विसृजती विसृजते गृहते यथा पृथिव्या औषध संभवंती यथो सत पुरुषाकेशलोमानी तथाक्षरा संभवती है विश्व यथा ऊर्णराविसृजते गणदय जैसे पूर्णा तंतु होता है एक कीट का नाम है ये मकड़ी नहीं मकड़ी का तो जाल बनाता है फिर उस जाल को खाता नहीं ये जो है दूसरी रखनी पड़ती है लूता कर लूता कीट बोलते हैं लूता कीट करके होता है वो पेड़ों में रहता है हरा हरा इतना सा और पेड़ ऊपर यूं घूमते रहता है वो भी यूं घूमते है जैसे है ना वो जो घूमता है ऐसे ही वो भी रहता है हरा इतना सा अपना उतर घूमते ही रहता है और नीचे चिंटी को देखते रहता है ऐसा दिव्य दृष्टि उसको दे रखे है सूक्ष्म दृष्टि इतना ऊंचाई पर तो रहेगा और देखेगा नीचे छोटी सी चिंटी कीटाणु होते ना घूमते रहते हैं उनको देखते रहता है अब वो इधर से इधर आया नहीं कि उसका स्पीड इतना है चींटी एक इंच चलता है वो सौ फुट ऊपर से नीचे धक से आ जाता है गजब की खेल झट से आए उसको मुंह में पकड़ ले लेके सरू कर वापस इतनी तेजी से आता जाता है गजब है बनाया खुद जाल उसने और फिर उससे वापस चला उसी को खाते हुए चला मुंह में पकड़ा भी और खाया भी उस जाल को बड़ा आश्चर्य है ना उस भोजन को पकड़ के भी रखा है और वो अपने ही जाल को खाते भी जा रहा है साफ साफ